और लोगों में कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के बारे में बेजाने बूझे झगड़े करते हैं और उस सरकश शैतान के पीछे चल खड़े होते हैं